इस तरह उसने दोनों को धोखा देकर नीचे उतार ही लिया चुनाच जब दोनों ने उस दरख्त का मजा चखा तो उन दोनों की शर्म की जगह एक दूसरे पर खुल गईं और वो जन्नत के कुछ पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने बदन पर चिपकाने लगे और उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज दी कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका नहीं था और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है